परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया छह दिन में सृष्टि रचकर सातवें दिन विश्राम किया कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है वो परमात्मा कबीर है जिसने छह दिन में सृष्टि रची तथा सातवें दिन तख पर जा विराजा उसकी खबर किसी का खबर से पूछ कर तो देखो कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन अब दो किताबारदार तो थे अर्जुन सर्जुन नाम के दो शस्त्र वो बहुत विश्वास किया करते जब काशी में आए तो सबने बोले रे तारे गुरु जी का दिखाओ चाल चरण अर्जुन कर दिया उसने तो के कर दिया एक वैश्या के गेल गल में डाल के और दारू पी कर घूमना करता होता घूमा था हाँ, कहा थे ना मत फसो इसके उन्होंने बोला वह देख लेंगे तो तसली हो जाना हम नहीं मान दे अच्छा अचाल दिखावांगे ईद भी मार उड़े बैठे उसके करना है महाराज जी उनकी खाट पर वह छोरी बैठी नीचे ऊपर बैठे अब जीवा अर्जुन सर्जुन नो प्लातून की तरिया ने बोला गुरु जी कहा भाई अकाड़ा नहीं बैठना चाहिए था अपने खत्म उनका न्यू बोला रहा फिर तक तो गुरु तो होगा वीराम ने शिक्षा देने लग गया तो न्यू बोला जी फिर भी लोग थूके हैं इसी बात का ना करनी चाहिए बोला लोग काम जाते तो और तो और बात सुन ले आज के बाद तेरी इस शरीर तो मुक्ति नहीं होगी थारी इतनी सुनकर भाई रोन लाग गए बोले महाराज जी क्योंकि हमारी तो फूट के बाद और गलानी भी होगी पर एक बात और बता दो हमारी कद मुक्ति होगी जो बोला इससे शरीर में कर दूंगा अब महाराज जी क्यों कर करोगे अको मन न देखना आज से कुछ समय के बाद मैं दिल्ली के आसपास पश्चिम में तीस किलो मील के आसपास और किसी एक क्षेत्र में जन्म लूंगा क्योंकि काल को बताया नहीं कर दे टप दे आ जाए ये सोचते रहे जाए और ले देवता कौन से कौन से अपना काम करके दे रहे तो महाराज छुड़ानी में प्रगट हुए अच्छा वो महात्मा ने देख के के अंदाजा बता दिया था कि इतनी उम्र हो जाएगी ना थारी उसके आसपास आऊंगा और महाराज दो से वर्ष के तक में जी जाएंगे हम कहा मेरी शक्ति तो जियोगे जिंदे रहोगे आकर के वह दोनों महात्मा उस दो चार साल पहला अमाइयों पर आ गए अंदाजा हला के तीसरे किलोमीटर यू मिल यू पड़े हड़ अमायु का एक भगत फेंट गया भगत आत्मा था उनके घर मरे तीन साल चार साल एक दिन उन रात में सपना आया कि छुडानी गांव में बंदी छोड़ कबीर साहेब पैदा हो लिए बलराम के घर में दोनों इकतरित सपना एक साथ एकदम तड़के उठते हैं अर्जुन कह सर्जुन भाई अत गुरु जी की खेर है वो बोला दीखे मन भी पर दिखे छोटे से पहले तो महाराज जी दिखे फिर बच्चे के रूप में दिखे अक पैदा हो लिए वत भाई ने बोला छुडानी गांव में दूसरा ने बोला बलराम के घर में अक जो की तो यही मनाया ने बोला चालन की तैयारी कर ने बोला चालन जोगे तो कौन भाई लचर पतर शरीर करे दो से पशुआ दो से साल दो से बीस साल की उम्र हो रही तो जिस भगत कर रहा करते उसने हाथ जोड़ कहने बोले भाई भगत जी तेरा छान मारे पानी भूल जाता बहुत सेवा करी पर एक काम और कर देगा अको कम करो ये आखिरी दुख जाएंगे आप हमने छोड़ानी गांव में छोड़ा इन ओडे गामड़ा छोड़ानी कोई नहीं जाना था भी ना जानते छुड़ानी ने मतलब नब्बे प्रतिशत जनसंख्या नहीं जानती छुड़ानी सह की थी बल्कि निन्यानवे प्रतिशत तो बोला जी मन्नत यू गांव नहीं सुना आज तक सारे गांव में ट्राई करी पूछा भाई छुडानी नाम का कोई गांव से भाई कोई गांव नहीं ये चर्चा चल रही थी कि वे दो महात्मा ने होकर छुडानी जाएंगे उनके गुरु पैदा हो लिए तो एक नाई ने सुन लिया बात क्योंकि वो बेचारे अपना जा करते थे शादी रिश्ते रास्ते करण खातर तो नो बोला भाई एक दिन मैं कबलाने ताऊ था रास्ते में पड़े से उस तो थोड़ी हुरे ने दुलेड़ा के पास एक छोटा सा गांव से पचास चालीस घर से और छुड़ानी से भाई रात नूडे डटा था पता पूछ लिया उस आदमी ने भगत ने सारा नोट करके आ गया तो ने बोला जी गांव तो पा गया ने बोला भाई तेरा शान होगा हम ना वहां भेज दे रेड रूम में बिठाए नीचे गदले खरड़ बिछा कर रात में चाल बखते सांझ चाल पड़े तैड़ के जा पहुंचे पहुंच गए तो वहां जाकर के देखा यानी दस बजे ही पहुंचे तो वहां पर है पूछा भाई बलराम का घर की इच्छा अगजी वो महल से बहुत बड़ा महल है तो खंड रोया पड़ा महाराज का बहुत बड़ा महल पुरानी का इतना सुंदर था उसमें तो तो उसमें को दस घर बन रहे हैं फोड़ फाड़ के उनसे जो उन्होंने क्या बना रखे नो बोला जी वो महल से सामने वहां गए तो बार पौड़ी में महल से थोड़ा दूरी पे बलराम बैठे थे उनके पिताजी और रेड वाला ने बोला भाई आपके घर में चौधरी साहब ये दो महाराज मिलना चाहो वो आ गया बाहर अखा महाराज हुक्म करो भाई कौन सो आप अकमा बलराम सो हाथ जोड़े उनको भी बलराम उनके महाराज के पिताजी कि महाराज हम अपने गुरु के दर्शन करना चाहे आपका गुरु कित है महाराज कि आपके घर में मेरे घर में अवकाल जो बच्चा पैदा हुआ है तीन दिन का हो रहा है परसों जो पैदा हो और गुरु आखा ओ गुरु से मारा ने बोला जी आप यहाँ पौड़ी में बैठो मैं लड़के ने यही लिया आप तो चला भी नहीं जा सकता हाथ जोड़ के नहीं बोलो चलो मो जाएगा एक सजा तीन पारे सारा ना लाइयो गड़प जाएंगे कभी आम चालेंगे तो बोला जी चालन दोगे तो कोई ना चाहे मर जाए राम है जाएंगे उसके बारे में आगे उड़ा माथा टेकेंगे आगे एक ने दोया वो पकड़े दोया ने वो पकड़ा उन लच ले गए बेचारे नो पिता पिता पाटक दे नो टूटते टूटे टूटे से गोडे जाके उस जहां माता रानी नाम था महाराज जी की माता जी का जहां माता रानी और बच्चा महाराज बंदी छोड़ लेते हुए थे उस कमरे में जाकर और छोड़ दिए इन्हें बोले तम बार और बाकी बार नो कान ला के सुने की बात हो रही महाराज रानी सुहा दी नींद पे और, और नो देखे नो खिड़किया में देखें के बतलाव से बंदी छोड़ तीन सज्जन के बच्चे नो बोले अर्जुन सर्जन और वो लंबे पड़े मुंदे रोए नो बोला जचगी था रहे गुरु के प्रति विक्षेप नहीं आकर अगदी बस भोग लिया हमने जितना भोगना था बंदी छोड़ पापी जीव से दो नो बोला आज के बाद स्मरण कर लो कभी भी गुरु के प्रति विक्षेप नहीं लाना गुरु मानस कर जानते हुए नर कहिए अंध महादुखी संसार में आग यम के बोला बैठे हो महाराज की शक्ति तो वह एकदम नो बैठे हो बोला नाम लो उपदेश दिया और भजन करोगे भजन किया और जाओ मुक्त हो जाओगे इतना कह के उसने ठाक है बलराम जी रून के गपोड़ी में ले आए दो तीन दिन वहां डटे उसी समय शरीर त्याग कर सतलोक चले गए अभी भी उनकी कहते हैं मंडी बनी हुई थी उनकी जो कब्रस्तान वैसे स्थान बना रखे थे जो बना देते ना समाधि सी वो बनी हुई थी अब पचास चालीस साल पहले भूरी वालों ने उन सब की फड़ुआ फड़ू के वहां पर एक सार करवा दिया था क्योंकि भाई यहाँ सारा फिर ये मंडी मंडी बन जाएंगी आश्रम नहीं रहेगा बोलबंदी छोड़ मारा तो इस प्रकार मूरख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु अपना है सतगुरु हरदम साती है मूरख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु अपना है सतगुरु हरदम साथी है रविदास रविदास कबीर हाथी चढ़ चाले संग ले ली गण का माई गंगो दक्षी मैं वर के मदराजों पीवे बाई रैदास कबीर हाथी चढ़ चाले संग ले ली गण का माई गंगो दक्ष गंगाधर गंगो दक्षी मैं वर के मदराजों पीवे बाई चौसठ लाख ने भक्ति गवाई मूर्ख के ना प्रतीत अति है सतगुरु अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है सतपुरुष ने छोड़ाई में बलराम की गऊ चराई भाई सत गंगा जी को प्रगट करके रानी मात नवाई आप सतपुरुष ने छुड़ानी में बलराम की गौ चराई रानी गंगा जी को प्रगट करके रानी मात नवाई भाई अद्भुत लीला अजब दिखाई दुनिया ना समझ पाती है सतगुरु अपना साथी है सतगुरु अर्दन साथी है मूर्ख मनुआ काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु अपना साथी है सतगुरु अर्दन एक बार उनकी माता जी रानी जी कह लगी क्यों अपने हरियाणा में या सारे <clears throat> या बीमारी फैल रही से गंगा स्नान कर ले का चकमा तो मुक्त हो जाए पड़वासी ने ना ले बंदी छोड़ने बोले माँ कुछ ना दे रहा टोटरा मैं तुम भक्ति कर राम नाम सतगुरु के नाम की ने बोली रे छोड़ दे ना सतगुरु आला तुन आंदा तेन आ दिया हमने क्या दुनिया ना लाग रही तू बेरानी ओपरी ओपरी बात सारी ओड़ी ओड़ी करे से और महाराज जी को बोड़ा क्या कर दे क्यों या तो समझ में आई नहीं कहानी जो के लिख रखा के कैसे बोड़िया लागे कर उस भगवान को और आप सियाने बन बैठे हुए तो महाराज ने सोची जा बुढ़िया ने मान जा अगमा अगले तो पचा भी विपकत उठाल रहने दे काम से नू से अकाछा अच्छा भाई ले अगले क्यों बहुत नम्र होया करती पहले माता है सब में सहनशीलता अच्छा भाई ले अगले साल ले चलिए बेटा ये तो दरिया दिन फिर आ जाएगा साल के दूर से अग अगला वर्ष अपनी मां ने जरूर नवा दूंगा अका अच्छा बड़ी अच्छी वो अगला साल वर्ष भी आया का का महीना पणवासी का या दो तीन दिन पहले चाला करते रेड़ू रेड़ू जोड़ के इसी साधन थे जिस दिन उन्हें जाना था ना गांव वाला ने बोला माँ वो सांध ने जोड़ कर चलते क्यों सीढ़ा सीढ़ा ज्यादा चले माँ आप आ जाएगा सांध ने कट्ठे माँ आप अपने रेडियो में ले चलूंगा अपनी माँ ने क्या दुख पावे दखेरे कदे झूठ बोलता हो कदे इन तभी राख दे मना जो मैं कहूं मां सत मानिए अपने बेटे विश्वास करे उस दिन शाम ना आए ना अपने गायन रोक के उपाड़े हम अपने जो आकर पे इकट्ठे और जास हुआ कि तो खेत बाढ़ देखेंगे बुढ़िया वारी कहीं तय इतने वो गांव वाले जाए एक भाई मारा छोरा होगा लेकर अगले दिन आया फारे पाछे न बोले रे तो गरीब गरीबू गरीबू का हार दे गरीबा बोला रे गरीबू तो नहीं कभी राख दी भाई चोखा बेटा तेरी मर्जी पराधीन हो गए पहला हम अपनी जवानी में जवाब ना आया करते थारा पैर आ गया जिस तरह बोलिया करे नो बुढ़िया कह करो लाने से लागी दे न बोला माँ चिंता ना करे गंगा जी ना होगी और के मैं गंगा जी ना होंगी भाई तड़कन नुआ दूंगा अपनी मान <laughs> अच्छा बोला दुनिया जाली लो लागली नहीं तड़का गंगा जी नुआ देगा उड़ा के ले जाएगा अब गंगा ना डलियाऊंगा बिला बोला इसी उल्टी उल्टी बात ना क्या करे तो अगले दिन बोला माँ चल गंगा जी नुआ गंगा जी आ रही है बोला उड़ा जोड़ में चल नुआ खिलाऊ ने बोला रे तू जमा कती निस्तर गया चल भी एक बार देख चलो और भी गिल गिल हो पांच चार अब चल देखा दादी के कैसे क्यों मंदी छोड़ में बहुत चमत्कार दिखा दिए थे छोटे से ने तो गेल हो लिए जाकर सूखे जोड़ पर जा खड़ा करे पश्चिम केंद्र है महाराज का सुडानी में पश्चिम में एक लंबा लंबा जोड़ से आज भी ध्यान देखा तो ईसा लागे नदी बही होगी कदे उस पर जा खड़ी करे ने बोले आंख मींच लो जिसने गंगा जी नहाना हो तो सारा ने मींच ली आंख बंद करके ने बोला खोलो रहे हैं थोड़ा गंग जब बहुत तेज गंगा चाल है और गंगा के घाट पर नहा ला गए नहा धो लिए खूब मड़मड़ का दुनिया ना हो अब नाते नाते एक धोती लोटा बह के उस गंगा की धार में एक भगत के हाथ में लग गया जो छुडानी के नाम थे छुडानी में तो वो लोटार धोती उसने काट के बाहर कर लिया ना कहने बोले आंख बंद कर लो सारे आंख बंद कर ली उस सूखे जोड़ पर फेर खड़े और नहा रे कपड़े धो रे सारे लत्ते बीज रे इब उसने झूठ के सख काम में आ गए तीसरे दिन वो नानिये भी आ गए आके एक भगत ने बोला रही बुआ जो महाराज की जो मामे थे वहां पर नानके थे उनकी मां ने कोई बुआ कहे कोई बेबे कहे कोई बहन जी जी कहे अब तू नानकी कह थी रे ना आई न बोली भाई हम तो गरीब बुनाड़े नुआ दी हाची बोड़ी भी तो भी बोड़ी होगी बोड़ी है गेला न बोला रे नो ना को आम आख्या देखी बात ने के ऊपर जुटला दे और भी पांच सात भगत ने बोले बस सच्ची कहां से हमारा नाय गंगा में तो फिर क्या हुआ एक भगत ने बोला जी एक बात हो तो, तो होगी हम गंगा जी नान गए थे एक धोती खूगी एक लोटा धोती तो था और लोटा गिर गया लोटा ला गया धोती भी गई बहुत तेज धार थी तो बंदी छोड़कर महाराज ने बोला ले ये उठा कर धोती कितने भाई की हो वो देखी ने बोला यू मेरा है नाम लिख रखा उर्दू नाम लिख रखा उस भगत का रो लोटा और धोती बोला हुआ ऐसा काली कानी वाली बोले यहाँ कैसे आई जो कर गंगा आई इतनी धोती आ गई नो गंगा भी आ गई न बोला जी सही सोड़ा मेरे गांव वालों को देखो झूठ मानता हो गांव वाले ने बोला हम तना मानते तम मानो तो झूठ भी या गंगा जी यहाँ आई थी उसके बाद तीन बार फिर प्रकट करी गई गरीब दास जैन ये प्रमाणित है उस जोड़ को आज भी गंगा जोड़ कहते हैं या झूठ नहीं है झूठ तो उसके लिए जिसने ईश्वरीय शक्ति का ज्ञान नहीं वह झूठ का आधार अब आपको बताते हैं कि बंदी छोड़ गरीबदास जी हम कह सकती थी एक बार नौ योगी नौ योगेश्वर हैं जो कि आकाश मार्ग से चलते हैं और जहां चाहे प्रकट हो जाते हैं सिद्धि से एक बार जनक जी के पास आए थे त्रेता युग में और फिर कभी गरीबदास ने महिमा सुनी तो उन राय न्यू परीक्षा लेने ने दुनिया ने बंडारा साहब के मैं जाने भी आगे दी उनके बाग में रुक गए रुक गए तो संदेशा भेज दिया कि कह दो बस गरीबदास ने कि हम नौ योगी आए हैं महाराज जी गांव से पहले चाल पड़े पांच सात भक्तान लेकर चालू संतारे रहे उन्हें फेंटका वहां और संदेशा देने वाला राय फेटा ने बोला रख महाराज जी आपने वो एक महात्मा रे नो वह है न बोला उड़े जा सब है आपने क्यों कृपेरा पटिया कोई बात ना वो भी गिल गिल हो लिया जाके वो संदेश वाहक कहने लगा महाराज जी इतना मानते तो पाए मैंने बोला वो नो योगी जानता गया शायद तक में बड्डा रोला तो महाराज जी कहते हैं गरीबदास जी के महाराज भोजन बताओ भाई आप बनाओगे हम बना के बेचें कई साधु आप बना के खाते हैं बोला हम आप बनावांगे पर सुबह खावांगे शाम में नहीं खाते महाराज जी सुबह फिर गए नौ दस व्यक्तियों का सूखा सामान ले गए उन्होंने खीर बनाई रोटी बनाई बना बनू के दस थालियां में परोस दी गरीबदास दिन कहने लगे आप भी खा जाओ खा लो आ जाओ वो लाइन बना ली ना नौ बैठ गए महाराज जी की खाली छोड़ दी थाली वहां भी परोस दी बंदी छोड़ कहने लगे गरीबदास जी महाराज जी आप खाओ हम आड़े गांव में रहे फिर खा लेंगे ना बैठ जाए आप खाओगे तो हम खाओगे नाम भी नहीं खाते महाराज जी बैठ गए बैठ के तो एक जगन खड़ा होकर शंख बजा दिया आकाश से कहते हैं तैतीस करोड़ देवता वहां प्रकट हो जाते हैं बोले सब न रोटी खुआ दे बंदी छोड़ने बोले कोई बात नहीं सब खाएंगे अपनी थाली पर कपड़ा डाल दिया और एक धारी राम नाम का संत था उस समय बंदी छोड़ का ने बोला दारी राम बैठ जा उनको शक्ति दे रखी थी उसके हाथ का भंडारा चलता रहा वैसे चलानी है तो वह थे नाम नाम था वो बैठ कर नो कर दे थाली न लाभ का थाली नो चाल बूढ़ा तो ये सिद्धि काम चाला और नो सूखे काम थोड़े चाल नो हाथ कर दे और नो उड़ कर जा तैतीस करोड़ देवता एक घंटे में जमा कर जय बोलते हुए चले फिर उन योगियों को बताया कि इस योग से बिरा काम कौन चाला है ये सिद्धि करनी है कि कितने जालिए और पशु जुनी पाओगे ई बोले क्या कर पहला तो करा बहस भी कर ले पर यो सब ऊंडा चमत्कार सामी देख रहे थे बोले जी बात तो ठीक हो चौथे युग में हम भी दोबारा पुनर्जन्म हमारा होगा तो फिर क्यों खुबात क्रिया खाम खा की हम कहीं नू करके देखो नु बोला जी फिर देखांगे लेन दो जी सा अर्थात यहाँ थोड़ा सा सुख हो पाता है किसे नो कह देख नाम बजले अब फिर देखांगे फिर इतना टिटवी पकड़ी जा उसकी कुआ मरिया पावे नो कह फूक आए बैठने दे तो फिर नहीं सहे महाराज कहीं काल करे सो आज करे आज करे सो अब और पलमा पर लय होगी भाई फेर करेगा कर तो इस प्रकार बंदी छोड़ कहते हैं जालती आने ने बोले ये बंदी छोड़ आपके शरीर से को सप्रस कपड़ा हमें दे दो उन्हें बोला थान मंगवा दो उन्हें बोला जी ये तो हमने मालूम है कि आप थान मंगवा सकते हो नहीं आप जो प्रतिदिन वस्त्र यूज करते हो उनमें से इतना टुकड़ा दे दो हमें थोड़ा थोड़ा आपके साथ बैठकर जो आनंद हमें आया आज तक स्वर्ग में भी नहीं था वो सुख तो बंदी छोड़ अनंत कोट ब्रह्मंड के परमात्मा थी कहते हैं महाराज ने अपनी चद्दर दे दी उस चद्दर के नौ टुकड़े कर लिए एक एक योगी ने और अपने ऐसे कपड़े का नीचे छाती का लगा दिया और आकाश मार्ग में जय बोलते हुए उठ जाते बोल बंदी छोड़ महाराज नौ योगेश्वर आण फहे किन्या ज्ञान अखाड़ा भाई बंदी छोड़ से चर्चा की नी निर्गुण सरगुण धारा फिर योग पणे मचाले फिर ज्ञान की चर्चा करी आखिर में बंदी छोड़ ने कहा कि वेद और ओम कहां तक ले जाओगा ये बताओ मैं बोला जी सहसरार कमल तक सहसरार कमल को ही तुम मुक्ति मानते हो मुक्ति नहीं है वो स्वर्ग प्राप्ति है इसके बाद फिर और महाराज ने गिनवा दिए ने बोला जी न्यो की पर मारे बस का इतना बड़ा रोड़ा नहीं है तो कहते हैं नौ योगेश्वर आण फहे फिर किन्या ज्ञान अखाड़ा बंदी छोड़ से चर्चा किन्नी या निर्गुण सरगुण धारा बटक बीज जो कहा विस्तारा लख चौरासी जाती है सतगुरु अपना साथी है मूर्ख मनुआ काहल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु साथी है सतगुरु हरदम अब खेखड़ा के अंदर गीसा संत हुए हैं जो कबीर साहब के अवतार माने जाते हैं उनका एक शिष्य हुआ साठ साल की उम्र में एक जाट था जीता दास और गीसा संत गृहस्थी थे गांव में रहा करते बाल बच्चे दार थे और छोटी जाति से होने की वजह से लोग थोड़े से ज्यादा मतलब छो मा जाया करते भाई रोज सत्संग अच्छा ना होता नहीं बोला भाई सत्संग अच्छा नहीं होता तो और क्या चीज अच्छी हो उसकी दो चार बार मना किया कि बोला बहुत छोरी जहां से कुआ कुबाड़ा हो जाएगा और तो भाई हुतपना ना कराया कर रहने सत्संग में बंदी छोड़ में बोले गीसा समझी अकबा देख मैं रपिया इतना छुटे और तेरी मर्जी भाई चाहे गाम को गाम छोड़ दो तो उन्होंने जाकर चौधरी जीता दास ताई बता जीता राम ती बताई नंबरदार कई गामा का नो सभी के जमीन यूपी का जाट भाई नो बोला अरे पंचायत क्या की होगी यार अग्नि होगी भाई एक वो था गीसा चमार जाति में कहते उनका जन्म हुआ अगो गीसा यानी जैसी भाषा गामा रहे करा के कह दें अगो रहा भाई ढेड सा और वहां को आंको बाड़ा होगा वो छोरी जहां से बोला के करा भाई बोला हमने कई बार कह लिया मानदा नहीं और नो करो इस नर्द तो चालता कर दो नो बोला रहा मैं कराऊंगा तुम गांव भी क्यों इकट्ठा हुआ फिर मन न दे न लठ और लेकर लठोल चाल पड़ा सत्संग का समय हुआ सभी एकत्रित हो रहे थे <clears throat> रास्ते में विचार आवा है कि गरीबड़ा सा आदमी लटकी के जरूरत से लठ बगा दिया जो इस सत्संग स्थल पर आया आते ही विचार बदल गया कह पहले नो तो सुन दे यू कह केस अरो बैठ गया महाराज जी चर्चा सुना रहे थे परमात्मा की जानकारी दे रहे थे वह दो दिन का जीवन से या चौधर दो दिन की है कल न कुत्ते की जूनी में जाकर जूठी पतल चाटोगे भगवान बचा करो इस तरह के बहुत अच्छे उदाहरण दिए अब गीसा और जीतराम बैठा बैठा देखा है महाराज गीसा संत न्यो बैठे और नोन उनके कई टुकड़े हो रहे जैसे आठ न्यारे नाड़ न्यारी टांग न्यारी ऐसे पड़े अब उसने देखा अगबयू तो कसूता महात्मा है भाई चाड़ा काट दिया तन तक तो तेरे भी नहीं कर दे उड़े तो हाथ जोड़ के और मुछा पे सू पड़े और रोन लाग गया न बोला महाराज जी मन बख्श रकम बात तो बता चौधरी साहब क्यों कराया जो काम आया था कर भाई अपना तो मारना आया था काटना आया था काटना आया था वो कर ले जो चाहे बोला जी जुलमी सू मैं तो कति पापी जीव सू इसे महापुरुष को अरे आंख बंद होगी इनकी गांव वाला की आप ना यहां से काट दें कित जा गया दुनिया ने बोला जी आज तो मैं भी आपकी गिल ने बोला बाबा तेरी सलाह साठ साल की उम्र थी बालक ब्याह ठहर के थे उड़ा रहने लग गया गांव में कहते हैं कुछ दिना के बाद गांव ने उन दोनों तीनों ने बोला तुम्हारा दे रहो भाई देश लकाड़ा दे दिया लक जाकर वह दूसरे अटाना कौन सा गांव जा बैठे कोई गांव का नाम भूल रहा पाछे तो उस गांव में ऐसी दुर्गति हुई किसी का बालक मर गया किसी की मैस मर गई किसी का दरंग मार गया यानी कुमद होगी फिर ये पूछा प्राण चल लग रहे बुद्ध जाला ने बोला भाई तुमने संत दुखी कर दिए और जिस नगरी में साधु नहीं गरीबदास जी के जिस मंडल साधु नहीं नदी नहीं गुंजार तद अनसा वो देसड़ा वहां काल की मोटी मार वहां को बदो करे तेने बोले के करा जी अक वो वापस आवा तो थारा गांव बसा ना उजड़ेगा वह चौधरी जो नो कहे धरती तो लांगे वहां पहुंचे जीता दास ने बोला जी वो भी आ गए गीसा संत बोले कोई बात ना और चाल के बना गया अपना क्या और नाल गड्डी सर गड्डी तो गड्डी रो संता के चलते फिरते ठिकाने हुए अच्छे हो साढ़ तो काट देंगे और अगर दूसरे देश में चले जाएंगे वह कितने तो मिलेगा बण मैं कितना ठिकाना होगा और वह दस बीस आदमी चौधरी चौधरी मौजूद जाके और साफा गिर गया गोड्या में नो बोले या थारे हाथ में सही अके बात भाई अड़क भी चले जा अगर नो ना करो लज्जित ना करो आप वापस चालो अक साचे को होकर हम पीटोगे अकना हमारा दिनों मजाक ना कर नाश हो गया गांव का चल भाई जीता जन्नों क्या था लिख डाले तो चल भाई जीता उल्टे आ जाओ अच्छा भाई जी चल संत का न्यू नहीं होना चाहिए आदत क्यों कर दिया क्यों क्यों है क्यों का सवाल नहीं होना चाहिए जो उसकी रजा फिर वापस आए आज उस खेकड़ा में इतना सुथरा धाम बंदी छोड़ के नाम का बना हुआ है पर थोड़ा सा अफसोस है कि जिस नाम का जात घीसा संत कराया करते अनुयायी ने वो नाम छोड़ दिया और तप के साधन अपना लिए जो तप कति खिलाफ लिख रहा क्या ना गीसा संत ने कर ना जीता दास ने कराया और ना गरीब दास ने कराया ना कबीर साहब ने किया तो वो जो है ना इन्होंने सारे साधन बता रखे और तप से मुक्ति कदे नहीं हो सकती चाहे कितना शब्द मान लो उसमें ऐसा कबीर साहब कहते हैं तो यहां कहा <clears throat> अविनाशी को मारण चाला वो जीता नंबर दारा मिली नजर में नजर धनी से पाप भस्म भया सारा अविनाशी को मारण चला वो जीता नंबर दारा मिली नजर में नजर धनी से पाप बसम भया सारा गीसा रूप में दर्शा तारा जो दृष्टि खुल जाती है सतगुरु अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है मूर्ख मनवा का हर की चिंता क्यों सताती है सतगुरु हरदम है सतगुरु अपना सा गुरु राम देवानंद जी ने दया करी की राम नाम का प्याला सतनाम का मंत्र दे के किया ज्ञान उजियाला गुरु राम देवानंद जी ने दया करी प्या राम नाम का प्याला सत नाम का मंत्र दे के किया ज्ञान उजियाला तरित शरणा के मार रह राम पाला अब भक्ति मन बाती है सतगुरु अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु साथी है सतगुरु हरदम साथी है सत साही अभी आप सुन रहे थे सतगुरु गरीब कबीर साहेब की महिमा का लीला का वर्णन जो कि यथार्थ तथा सत्य है जब तक हमने अपने इष्ट के बारे में न जानकारी नहीं होती कि हम जिसके आश्रित हैं इसमें कुछ चमत्कार या शक्ति है कि नहीं है चार पाई उठवा दे तो हम ऐसे ही समझेंगे कि ना बेरा कहीं हम इसका इनका पीछे लगे भी रहे और अंत में कदे पिस्ताना ना पड़ जावे पहले हमने ये भ्रम दूर करना चाहिए नहीं तो हम भक्ति पूरी नहीं कर पाते और फिर उस ईष्ट का सतनाम सार नाम हमें प्राप्त हो तो उसका पूर्ण लाभ मिले हरेक ईष्ट का जैसे विष्णु जी का भी सतनाम है और सार नाम है भगवान शंकर जियों का भी सतनाम है और सार नाम है ब्रह्मा जी का भी माता का भी और ब्रह्म का भी और पार ब्रह्म का भी और पूर्ण ब्रह्म का प्रथम तो हम किसी भी इसकी उपासना में उसके सतनाम की कोशिश नहीं करते जो किसी हो नाम से घर बैठे उच्चारण करते रहते हैं कति लाभ नहीं होता क्योंकि गुरु के बिना ये मर्यादा सतगुरु की बनाई हुई परमात्मा की बनाई हुई है कभी भी लाभ नहीं हो सकता जैसे चाहे राजा का लड़का भी क्यों ना हो उसने अगर सरकारी लाभ लेना होगा चाहे प्रधानमंत्री का भी लड़का क्यों ना हो अगर उसने सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है तो उस स्कूल में उस कॉलेज में दाखला लेना होगा वहां जाना होगा जिसमें आम नागरिक के बच्चे पढ़ते हैं और उस बोर्ड को उस यूनिवर्सिटी को उसने पार करना होगा पास करना होगा उसको को बोलना नहीं इतना अगर वो पास नहीं करता है तो उसको सरकारी लाभ नहीं मिलेगा इसी प्रकार हमने अपने ईष्ट से जिसकी भी हम उपासना करते हैं उसके गुरु से नाम लेना होगा और वो गुरु मान्यता प्राप्त हो जिस प्रकार मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से हम कोई सफलता पास करके उससे ले लेंगे सिनंद सर्टिफिकेट तो हम कुछ लाभ पाएंगे अन्यथा नकली काम आते हैं काम नहीं बना करते तो अब हम अपने कबीर साहेब पूर्ण ब्रह्म के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं राम और कृष्ण ब्रह्मा तथा विष्णु जी शंकर जी के बारे में हमने बहुत कथाएं सुन तथा पढ़ रखी है कोई भी आसान भिज नहीं होगा जो इन परमात्माओं के बारे में जानकारी ना रखता हो क्योंकि जगह जगह पर संत जन संत इनके उपासक जो हैं इनकी महिमा बहुत अच्छे ढंग से आपको सुनाते तथा गाते रहते हैं अब हम आपको पूर्ण ब्रह्म की कथाएं सुनावेंगे पूर्ण ब्रह्म की लीलाएं बता रहे हैं ध्यान से सुनिए बंदी अब हम देखते हैं कि हम साधु उसको मानते हैं विद्वान उसको मानते हैं जो संस्कृत भाषा में और धारा प्रवाहिक बोलता चला जावे अटक भी नहीं माना और कई घंटा तक संस्कृत बोलता रहे तो हम समझते हैं कि इस विद्वान जैसा विद्वान नहीं कोई भी और यही सब कुछ जानता है और इसके पास वस्तु है संस्कृत की जानकारी हो जाना या कोई बड़ी बात नहीं है गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि अरबी तुर्की फारसी हिंदवाणी पटियार इसमें संशय है नहीं या जम की बेगार ज्यादा चतुराई चतुराई कर लेना विदिता प्राप्त कर लेना परमात्मा प्राप्ति का साधन नहीं है इस प्रकार एक समय इस भ्रम को तोड़ने के लिए बंदी छोड़ कबीर साहब ने एक लीला की एक तोतादर तोतादर एक स्थान है जहां पर बहुत अच्छे विद्वान लोग रहा करते थे तो उस तोतादर के ऊपर तोतादिर भी कहते हैं उसको तोतादर भी कहते हैं वहां पर एक बहुत बड़ा विद्वानों का सम्मेलन हुआ महात्माओं का जिसको हम महात्मा कहते हैं उन महात्माओं का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ और रामानंद जी को भी आमंत्रित किया गया रामानंद जी ने अपने परम श्रेष्ठ बंदी छोड़ कबीर साहब को भी साथ ले लिया स्वामी रामानंद जी बहुत बड़े विद्वान चारों वेदों के ज्ञाता और अठारह प्राण गीता जी इन सबको बहुत अच्छी तरह जानते थे योग अभ्यासी थे बाल ब्रह्मचारी थे उनको भी कबीर साहब ने अपनी विशेष कृपा से उनको बताया कि स्वामी जी नरी इन गाथाओं से विदुता से या योग साधना से ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी और महाराज ने अपनी शक्ति से उनको बहुत कुछ चमत्कार दिखाए जब उन्होंने स्वीकार कर लिया कि आप ठीक कह रहे हो स्वामी जी आ, क्योंकि मैं आखिर में रामानंद जी खुद कबीर साहब को स्वामी कहते हैं कि मैं भक्ता मुक्ता भया कर्म कुंद भया नाश गरीब दास तुम पूर्ण ब्रह्म मेरा हो गया दृढ़ विश्वास तो रामानंद जी का कबीर साहब को साथ लेकर तोतादिर के समागम में जाते हैं वहां पर विद्वानों ने तो इस प्रकार है कबीर साहब भी चले गए और भाई वहां पर बहुत से साधु विद्वान बहुत तगड़े तगड़े वहां बैठे हुए अब उन विद्वानों ने देखा कि भी एक नीच जाति का कबीर नाम का उनका शिष्य हुआ है रामानंद उसको बहुत महत्व देवे हैं आज इसकी तोहीन कर देंगे और साथ में ये भी होगा कि ये भ्रष्ट कर देगा हमारे समाज को नीच जाति का है इसको टालने की सकीम बनाई कैसे टाला था तो विद्वान ने बोले यू भी कोई बात हुई टालन की यहां पर एक जना मुना, मुनादी कर दो यानी आवाज मार दो कि भी भंडारा तैयार हो गया है और जो महात्मा संस्कृत के श्लोक तैयार सुना दे वेदों के वो तो इस भंडारे में आ जा और जो संस्कृत के श्लोक नहीं सुना सकता वो परली तरफ लगे हुए आम लंगर में चला जा बंदी छोड़ तो सारी जाने थे कहा ये जड़ा बोल रहे हैं कौन से स्टेशन तक बोल रहे हैं आज ये तो वहां खड़े खड़े देख रहे कोई बात ना सबका नंबर आवे वहां तो वही जहां थे जो संस्कृत अच्छे जानते थे और वेदों के मंत्रों को घोट रखा था अब आ गया कबीर साहब का नंबर कबीर साहब ने वहां एक जोटा चरे था भैंसा ओ बुला लिया अपनी शक्ति से और भैंसा ने कूदता आवे आकर खड़ा हो गया महाराज जी ने हाथ फेरा अकाजा मेरी गेल गेल जहां वो वेद मंत्र सुने थे ना सजा जोटे चले गए अब ये अनहोनी सी बात सुनेंगी पर परमात्मा अनहोनी कराया करे जब भगवान जा जी आम करा वो ये परमात्मा करे तो फिर परमात्मा की साहब हो जाकर जोटा का हाथ पर सिरपा कड़पा हाथ मार के न बोले बेटा जोटा राम सुना दे चार मंत्र उस जोटे ने चार मंत्र शुद्ध संस्कृत में सुना दिए और फिर उन किनो बोला बेटा नो कहेंगे ये अगे जानता को नहीं है उस दिन की सरलार्थ नहीं जानता होगा इनका सरलार्थ और भावार्थ दोनों सुना दे ओ भी सुना दिया अब कबीर साहब ने बोले बेटा जा इन गेला रोटी खा ले मैं तो उड़े खा लूंगा जो आम लंगर लग गया तो इन विद्वाना में तो ही खा जा गया तो इस प्रकार उन विद्वानों ने हाथ जोड़ दिए नो बोले जी इसी जूती ना मारो हमने नहीं पता था आप इतने महान आत्मा हो हम तो आए एक जाति विशेष से आपको तुच्छ समझ करके और आपके साथ मजाक कर दिया अक्षमा करो अकबे हम तो अक्षमा अक्षमाय करण खातिर रहे पर थारे बुत में दी को नहीं बात सारी जो मैं कहूं सू अभी आप देखोगे ये सामने एक भैंसा इधर चल रहा है इसको सतगुरु महाराज बुला रहे ये जोटा इधर चला था सतगुरु जी ने फिर ये बुलाया यहां पर और ये वेद मंत्र सुनिया खड़ा और ये चार मंत्र सुना कर जोटा तो डांक ठोकी और वो बंदी छोड़ के पाया में पड़े वो विद्वान तो ये तोता दिर के ऊपर सतगुरु महाराज का यानी अनादर के स्थान पर आदर हुआ तो इस प्रकार हमने अपने परमात्मा के ऊपर पूर्ण विश्वास करना होगा क्योंकि ये अनंत कोट ब्रह्मंड के परमात्मा है एक हम आपको कथा सुनाएंगे क्योंकि साथ में सत्संग कई ढंग से चलना होता है जिसमें चेतावनी भी आनी चाहिए एक अब्राहिम सुल्तान अधम नाम का बलख बुखारे का मुसलमान बादशाह था उसकी इतनी तगड़ी ऐस बताते हैं इतने ठाठ बताते हैं कि सोलह हजार रानियां थी अब कई इन बातों पर अविश्वास करते हैं कि सोलह हजार रानी होना असंभव है असंभव संभव के अंदर अगर बढ़ेंगे तो आज हम इस असली उद्देश्य को भी भूल जाते हैं क्या असंभव है और क्या संभव है जैसा कि पहले भी बताया था कि आज से 40 वर्ष पहले ऐसे व्यक्ति होया करते जो पांच मण वजन और उठाकर छात पर सीढ़ी द्वारा चढ़ जाया करते पेड़ियां द्वारा नहीं और आज से सौ साल के बाद कोई इस बात ने नु कह देगा ना कि इसे व्यक्ति थे कि पांच मण वजन ठा के ले जाया करते तो उसने बेकूफ और मूरख और महा मतलब प्रोपगंडा फैलाने वाला क्या करेंगे क्यों सारी छोटी छोटी प्यौद हो जाएगी बंदी छोड़ने लिख रहा क्या कि बीस वर्ष की उम्र रह जाएगी आखिर में इस मनुष्य की और पांच वर्ष की और पंद्रह पांच वर्ष उसमें से खंड हो जाएंगे पंद्रह की रह जाएगी जैसे तो सौ की मान कर चल रहे हैं पर पचहत्तर अस्सी ताएं तकरीबन लौ लाग ले और पांच वर्ष की लड़की का बच्चे हुए आ करेंगे बिल खोज आ करेंगे जो बिलाम रहेंगे वह कितने बड्डे होंगे ये भी हिसाब ला लो आज भी इसे जवान से जो पंद्रह सोलह बीस साल के उन पैद मेरे ख्याल में चार दिन वजन नहीं उठे और उन कहना पांच मन वजन ठाणी आदमी थे तो कोई नहीं माना इसी प्रकार हम उन बातों असंभव मान लेते हैं जो हमारे बस का नहीं है लेकिन ठीक है पर उसकी यथार्थ बात न समझे समय उस बात को नु सिद्ध करना नु करवाना नु कहीं तू उठा के दिखा दे मारे तो बस का नहीं पर ठाणिया ने ठाया वो काम किया इसी प्रकार सोलह हजार रानी थी अठारह करोड़ अठारह लाख घोड़े तुराज जिसे कहते हैं यानी धन होया करता जिस राजा पर इतनी साधन होता था उसको बहुत अच्छा तथा सबसे शक्तिशाली माना जाता था एक बार उसने सत्संग सुना कुदरती को भाग जागर से इंसान का ना बेरा किस कारण से उदय हो जाए उसके पड़ोस में राजा के महल से लगभग कोई दो तीन फरलांग की दूरी पर कोई भगत का स्थान था घर था झोपड़ी थी गर्मियों का दिन था और रात्रि का समय चांद की चांदनी वो भगत जन अपना सत्संग कर रहे थे चाहे वो किसी रूप में भी कर रहे थे क्योंकि सतगुरु महाराज का जो सत्संग है काफी दिनों से चला हुआ तो रात्रि में राजा ने की आंख खुली किसी कारणवश उसने सोचा चल थोड़ी देर छात पर टहलते हैं क्योंकि यहां नीचे गर्मी ज्यादा है ऊपर टहलने लगा तो सुने है कि बहुत प्यारी प्यारी आवाज किसी भक्त की किसी संत की प्रवचनों की आ रही है आत्मा चाहे किसी मजहब या धर्म के व्यक्ति की हो परमात्मा न चाहती है क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है जैसे कोयल की बोली ने कोयल का बच्चा तुरंत पकड़ जाता है उसी समय राजा के कान बहुत आकर्षित हुए और देखा कि सुनो ये के कह रहे हैं इतनी देर में दो चार भक्त उनके सेवक जो हैं राजा के अनुचर ऊपर आ जाते कहने लगे महाराज जी नीचे चलो अगर नहीं भाई कुर्सी ला दो कुर्सी ले आए सिंगा अपनी कुर्सी पर बैठ जाते अरे कह लेगा आप नीचे जाओ सब नीचे चले गए अब सत्संग में बताया गया क्या बताया गया मन तो साहेब से चतला मन तो साहेब से चतला अरे गर्भ गुमानी साहेब से चतला अरे क्यों गर्भ कर रहा से दो दिन के जीवन में भगवान ने याद करो भाई कहते हैं नाभ कमल में नीर जमा तेरा दीना मैल बना उस परमात्मा ने एक नाभि कमल में मां के गर्भ में तेरा एक पानी की बूंद ते कितना सुथरा शरीर तैयार करके दे दिया और दांत नहीं जब दूध दिया था अमी महारस का जब बाहर आया अंदर भी तेरा जो है ना प्रबंध किया उसने पालन पोषण का और बाहर जब आया तेरा दांत नहीं थे जब भी मां के स्तन में दूधी में दूध तैयार करके तुझे पहले ही तैयार कर दिया तू पाछ बार आया दूध पहले शुरू हो गया आते ही इतना व्यवस्थक है वो तेरी इतनी ख्यास रखता है और आप उसको कति याद नहीं करते तो अनजान बहुत दुख पावेगा कहते हैं नीचे शीश चरण ऊपर को वो दिन याद करा नीचे न था और ऊपर ने तेरे पां थे वो दिन याद कर ले कितना कष्ट उस गर्भ के नरक में आज किसी को यदि दो घंटे भी उल्टा लटका दे तो मुसीबत में वो बहुत तंग हो जावे वो तो कमरे में और फिर कति बोरी में गाल के गेर दे तो फिर देखियो की बने तो इस प्रकार हम ऐसे स्थान पर नौ महीने रहे ना भाई था ना बाण थी ना माँ था ना पिता था हम अकेले रो रो गए और रोना भी नहीं आवा था कसक के साथ ईश्वर याद कर रहे थे हे परमात्मा हे ईश्वर हे अल्लाह जो भी हमारे मन में थी तू ही तू ही की आवाज अंदर से कर रहा था तो ही तू ही तू ही अब तुझे तू ही है जो कुछ है और मुझे एक बार बार काट दे मन मन में ऐसे संकल्प वो कर रहा था हे ईश्वर तुझे बहुत याद करूंगा हे परमात्मा हे भगवान अपनी आत्म कल्याण करूंगा मैं किसी रफड़ में नहीं बढ़ूंगा ना ज्यादा अड़पूंगा ना रिश्वत लूंगा ना बीड़ी पीऊंगा नहीं शराब पीऊंगा ना किसी की आत्मा दुखाऊंगा केवल अपना आत्म कल्याण करके किसी पूरे गुरु का नाम लेकर मैं अपना काम बनाऊंगा तो महाराज कहते हैं सबसे पहले बार आकर उन कोलों को भूलता है जो कि सौ सौ बार करके आया अब कहा कि दाई आई घुट्टी प्याई माता गोद खिलाया और भाई बाहर आया भ्रम भुलाया बाजे तूर सनाया वह जब थाली बाजे और फिर राजा का लड़का हो तो उसके तूर और पता कितने ढोल बाजे की करना पड़ता है कर जाते हैं ठीक है तो यहां कहते हैं कि तू ही तू ही तय छोड़ दिया तो चला अधम किसरा अरे परमात्मा का नाम छोड़ दिया अरे तुझ बुद्धि अब के रास्ता अपना लिया तू ही तू ही तय छोड़ दिया अब चला अधम किसरा अन्य बोले जो दिन आज सो काल नहीं रे आग फिर धर्मरा आज यो शरीर टूटा फूटा खत्म हुआ फिर उस परमात्मा के धर्मराज के सामने अपना लेखा जोखा दाना दाना गिणवाना होगा और वहां पर गेगला और गेहूं जहर ला रखी उसने चार पांच कति नारे नारे ठाकर दर देगा ये तेरे खुक्रम ज्यादा ये थोड़े से कम ये उससे कम ये उससे ये तेरे अच्छे शुभ कर्म ये इनसे थोड़े शुभ कर्म ये इनसे थोड़े शुभ कर्म ये न्यारे गाल देगा अग बेटा यू तो ढेर ला गया बुरे कर्मा का अरे अच्छे तो तेरे दो चार तेरे से को गलती से कितना सत्संग में चला गया होगा दो रुपये दान कराया होगा बस अब ये तत्न तो स्वर्ग में भोगने और ये नरक में और फिर बाकी जो बचे से वो तना लक्ष्य चौरासी भोगनी वो बाकी है वहां जाकर तो अपलातून बन जाता है ईश्वर याद नहीं करता केवल माया में और इस काल के जाल में उलझ कर और अपनी अनमोल जीवन को बर्बाद कर आया कहते हैं दिन आज सो काल नहीं रे आगे फिर धर्म राय द्वादश वर्ष खेलते बीते लीना ब्याह करा बारह वर्ष तो बहुत सुंदर ढंग से बचपना था लड़कपन था उस समय बारह वर्ष के लड़के और लड़की बहुत जवान हो जाया करते थे तगड़े हो जाया करते थे जो कि आज बीस साल के भी नहीं होते होंगे बारह वर्ष में शादी कर दिया करते थे बच्चे की लड़की और लड़के की द्वादश वर्ष खेलते बीते लीना ब्याह करा तरुणी नारी से गरबारी चाला मूल गवा अब गरबारी बन गया बने पाछे बेटा अड़म खेत अड़ सीख ले और फिर बुराई करा कर नो है ना मेरा बाबू मैं तो भैया तेरह साल का हड़ पकड़ा दिया था आज मैं देख ले चार साठ साल का होगा कै साल हो गया जोड़ दिन भाई हमने तो छक्का कमा कोई बात नहीं बात अच्छी बात है अगर उसके साथ साथ को बाबू ईसा मिल जाता एक राम नाम का अड़बी दे दिंदा साथ में अड़बी बाना और ईश्वर का याद भी ईश्वर को याद भी करना दोनों कमाई जुड़ जाती जब नौ गणेश है मन बेरानी दस लाख कमा दिए होंगे या पंद्रह लाख आज तक हिसाब लाऊं तो और कितने दीखता नहीं लाग गया हुआ कमाया हुआ और संत ने कहे कि जब एक भगवान की कमाई और जुड़दा इसकी गेल तो उसका ढेर लगा पाता या तो बर्बाद होगी और हो जाएगी रही खी और वह तेरे साथ रहेगी कबीर कमाई आपनी कब होना निष्फल जा भाई सात समंदर अड्डे में लुपड़ो वो मिले अगाऊ आ अपनी की हुई परमात्मा के नाम की कमाई आगे मिलेगी और बुरी भी मिलेगी दोनों मिलेंगी द्वादश वर्ष खेलते बीते लीना ब्याह करा अरे तरुणी नारी से घर बारी तो चल मूल गवाह मूल कैसे शरीर रूपी धन को सांस रूपी पूंजी को जो परमात्मा ने तेरे को इसलिए दी थी कि इससे आप और ज्यादा कमाई कीजिए इस धन से और कमाना इससे व्यापार करना और बढ़ा लेना लेकिन विरत में तो यह भी खा चल तो आगे तुझे मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा एक सेठ ने अपना मुंशी भेजा जो जिस पे वो बहुत विश्वास करता था जिसके अच्छा चाल चलन था कि विदेश में जाइए एक सराय के अंदर कमरा बुक करा लीजिए और बाकी जो पैसे इनसे व्यापार कीजिए और धन वृद्धि करके लाइए वहां जाकर देखता है कि बहुत से और भी व्यापारियों के मुंशी आए हुए अब एक तो अपनी कमाई कर रहा है जैसे कि उसके मालिक ने बताया था और एक अनदान कमरा बुक करा के और शराब पीण लग जाता है सेठ की पूंजी मत है और उसको नशे में खोता है और बुरे दुष्कर्म करता है और पूंजी बर्बाद कर रहा है जिस सेठ के मुंशी ने ये जानकारी थी कि इसका हिसाब देना होगा वो उसको बार बार समझाया करता कि भाई यू समय यू पैसा नो खोण का कोना या पूंजी सेठ की है और यह तूने देनी पड़ेगी बीरा तेरे सात जन्म भी पूरे ना होंगे इतनी तू